भोग सेवन में भगत सेवन में इतना ही अंतर है कि भोग सुखों की प्राप्ति न होने पर विपरीत हो जाने पर भोग सेवनकारी को दुख होगा विपरीतता प्रतीत होगी और भगवत सेवनकारी को भगवत सेवा से कहीं विस्मृति हुई तो उसमें दुख होगा वो भगवत सेवा से क्षण भर के लिए भी विलग नहीं होना चाहता भोगों की परवाह नहीं बल्कि वो बहुत दफे एक महात्मा रहे ये महात्मा उनके पास कुछ था नहीं तो रोज बेजल की रोटी बनाते और बेजल के रोटी स्वयं खाते और भोग लगाते तो एक दिन कोई संत आए उनके यहां तो संत ने आकर के क्या बोल देखू कि कन्हैया तो जो हैं ये बड़े सुंदर हैं कोमल हैं इनको तुम बिगड़ खिलाते मक्खन खिलाया करो उन्होंने कहा कि मक्खन खाना हो तो मक्खन वाले यहाँ जाए जिनको यहाँ मक्खन मिलता है वहाँ जाकर रहें हम तो इनको रखने के लिए कोई लालाई थे नहीं इनकी मर्जी हो तो रहे नहीं तो न बिगड़ खाना हो तो रहे तो भगवान ने स्वप्न में कहा कि हम तो भी तुम्हारे यहाँ रहेंगे गुजर खाएंगे पर जहाँ भूल दृष्टि होती है ना इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान को अच्छी चीज लगे भागवत में आया एकादश में कि भगवान को देने में किसी प्रकार की कंजूसी न करे जो अपने पास से बढ़िया से बढ़िया दे परंतु इस बढ़िया से बढ़िया चीज का कहीं महत्व न हो जाए भगवान के सामने कि बढ़िया चीज के लिए भगवत भाव को दोष न दे बढ़िया चीज के लिए अपने भगवान को कहीं गिरवी न रख दे तो रखता है आदमी जब भोग परायणता होती है तो भोग सिद्धि के लिए भजन भी देता आदमी भोग सिद्धि के लिए भगवान को छोड़ करके भोगी मनुष्यों की सेवा करता है आदमी वो कहता है भोग चाहिए भगवान के लिए परंतु वो भोग दृष्टि रहने के कारण से वो भगवान के लिए चाह करके भी अपने लिए चाहता है तो ये समझने का वहां पर भाव है कि भोग दृष्टि कभी न आने पावे भोग दृष्टि आने पर श्रीकृष्ण इस प्रकार से खेलते नहीं ये यशोदा मैया में और ब्रज की गोपांगनाओं में गोप सखाओं में भोग दृष्टि थी ही नहीं शांत भाव से मनाली कब का इनमें पहले आ करके और बहुत पीछे रह गए तो इनके अंदर तो बिल्कुल सर्वथा और सर्वदा भगवत की दृष्टि थी श्याम सुंदर को सुखी करना तो इनका भोग और भोग त्याग ये दोनों ही भोग त्याग से भी इनके मन में कोई घृणा नहीं जिस समय भोग त्याग से प्रसन्न है भोग त्याग और जिस चीज को खाने में उनको पसंद था अब ये गहने रत्न सोने और रत्नों के हार छोड़ करके जो गुंजाओं की माला पहना दी और बन के पत्तों की माला गूंज करके सखाओं ने पहना दी क्या भूल से ये उत्तम चीज है बड़े बड़े बहुमूल्य सुंदर हार उनको तो नहीं पहनाया ये पहना दिया पर श्याम सुंदर तो इससे सुख मिला तो कहीं पर भी भोग भावना जहां रहती है वहां भगवान प्रकट नहीं होते तो ये भगवान कहते हैं कि इन बालकों का इन इन का कितना बड़ा ये भाग्य है कि जो भगवान ज्ञानी संतों के लिए वो ब्रह्म सुखानुभूति रूप हैं जो लोग दास भाव से भजने वाले भक्तों के लिए उनके आराध्य देव और ऐश्वर्य संपन्न सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर परमेश्वर हैं उनकी भी सर्वलोक महेश्वर परमेश्वर नहीं है पर यह ज्ञान भी नहीं है ये तमाम भोगों से पूजा करते हैं भगवान की परंतु स्वयं ये भोग निष्ठ नहीं है ये नहीं तो जो भगवान ज्ञानी संतों के लिए ब्रह्म सुखानुभूत रूप हैं जो भगवान दास भाव से भजने वाले भक्तों के लिए परम ऐश्वर्य संपन्न आराध्य देव हैं और जो भगवान विषय विमोहित अज्ञान जड़ विषयांजन के लिए बालक रूप है मेरा बच्चा है श्री कृष्ण को जो बालक समझता है ना मुगल हम्म, भाव से नहीं अज्ञान से निर्धान बहु करके नाश का आश्रय लेकर के जो समझता है कि ये बालक है उसके लिए ये बालक है परंतु वही उन्हीं उन्हीं भगवान के साथ ये कृतपुण्य पूजा है मालूम इनके उन्होंने क्या पुण्य किए हैं कितने कितना पुण्यों का समूह इनका प्रकट हुआ है आज पुण्यों का फल कि ये महान पुण्य पुण्य गोप बालक ये भगवान के साथ इस तरह का बालकोचित खेल खेल रहे हैं अज्ञानी मनुष्यों के जैसा तो कहते हैं यदि पाद पांच दो जन्म जन्म कृषि तो पाप में दुर्योग विरोध से गया है उसने बहुत जन्मों तक एक जन्म जन्म जन्म जतन करा है अंतराम आवत नहीं भगवान का नाम भी बड़ा प्रयत्न करने पर भी मुश्किल से प्राप्त होता है और जो शुद्ध सिद्धि प्राप्त हो जाते ब्रह्म सुखानुभूति को प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए भी जी भगवान के चरणों की रज अप्राप्त ही रहती है बड़ी मुश्किल नहीं मिलती उनको ये ब्रह्म सुखानुभूति जो है वहां पर भगवान की चैन रज नहीं मिलती उसका तो वहां आदर ही नहीं है ये तो विलीन हो जाते हैं वो सुख संधि में तो कहते हैं बहुत जन्म की तपस्या करने पर श्रम करने पर कष्ट करने पर भी और अपनी इंद्रियों को मन को तपा कर रोशनी कर लेने पर भी योगी जिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रज को प्राप्त नहीं कर पाते ये भगवान इन ब्रजवासी ग्वाल वालों के आंखों के सामने और उनके साथ खेलते हैं केवल दिखते नहीं हैं उनके साथ साथ वैसे ही बनकर सदा खेलते हैं तो कहते हैं कि उनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए ये परम सौभाग्य है पर तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है सबसे बड़ी बात है ये समस्त त्याग ये मोक्ष सुख का त्याग भी यहां पर अपेक्षित होता है किसी प्रकार की भी अपने सुख की कामना उनकी सेवा के अतिरिक्त जब तक रहती है तब तक इस भाव का प्राकट नहीं होता कुछ न कुछ छाया आती है भरी पर वो रह जाती है माया तो वृंदावनंदन को देखने के लिए यमुनियम आदि प्राणायाम आदि ध्यान करना समाधि लगाना इन सब की आवश्यकता नहीं है परंतु आवश्यकता है अपने आप को समर्पण कर देने की और फिर तो वो, वो जिस प्रकार का खेल ब्रह्मा जी ने अब आगे आएगा तो भूल भाभी ने जन्म के मत चलिया बड़ी सराहना है कि इस वृंदावन में कोई कीट प्रबंध होकर के भी आ गया कोई किसी प्रकार से जहर बन करके भी आ गया वृक्ष लता गुण बन के भी आ गया और यहाँ के ब्रज की धूल का कण बन कर भी आ गया तो वो धन्य हो गया क्योंकि यहाँ पर स्वयं सचिदानंद धन परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण खेलते हैं तो जिस भूमि में खेलते हैं वो धन्य जिन लोगों के साथ खेलते हैं वो धन्य जिन उपकरणों से खेलते हैं वो धन्य जिस काल में खेलते हैं वो काल धन्य क्योंकि यही सर्वोत्तम फल है इसके परे और कोई फल नहीं बड़े बड़े देवता बड़े बड़े सूर्यन्द्र मुनिन्द्र जब उनके मन में ये चीज आती है तब वो पश्चाताप कर बैठते हैं कि हम इधर लगे नहीं इधर नहीं लगे हमने जैसे कोई आदमी अपने धन को खोकर दुखी होता है कि हमने गफलत में खो दिया इसी प्रकार प्रेम का अंकुर पैदा जिनको होने को होता है उन ज्ञानियों के मन में भी पश्चाताप होता है कि हमने प्रेम प्राप्त नहीं किया ये परिपुराणों की कथा ब्रह्म विद्या के मन में भी क्षोभ हो गया जो ब्रह्म विद्या सबको स्वयं ब्रह्मानुभूत करवाने वाली ये ब्रह्म विद्या स्वयं श्रीकृष्ण प्रेम को न पाकर संतप्त हो उठी और उसने चिरकाल तक तपस्या की गोपी भाव प्राप्त करके श्री कृष्ण का सेवन करने के लिए क्योंकि ब्रह्म विद्या को भी ये ज्ञान हो गया ज्ञान गई ब्रह्म विद्या कि केवल ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म सुखानुभूति ही सर्वोच्च स्थिति नहीं है प्रेम प्राप्त करना श्री कृष्ण का यही चरम और चरम उद्देश्य होना चाहिए गीता तो इसका संकेत है मनुष्या नाम सहस्त्रेशु ऐसी तो भी सिद्ध है सिद्धा नाम कश्चिन मान देती तत्वतः हजारों हजारों में कोई एक यत्न करता है सिद्धि प्राप्त करने के लिए सिद्धि माने यहां योग सिद्धि नहीं है अंत करने की शुद्धि सिद्धि नहीं है यहाँ सिद्धि है ब्रह्म सुखानुभूति ब्रह्म प्राप्ति और उस ब्रह्म प्राप्त सिद्धा नाम और केतशीला नाम वो ब्रह्म प्राप्त करने के बाद भी मेरी प्राप्ति तत्वतः सबको हो जाए ज्ञान हो जाए ये नहीं होता तो पश्चिम मान व्यक्ति तत्वमान व्यक्ति तो ये मान एक की तत्व का है तत्व से भगवान मान माने भगवान श्री कृष्ण प्रेम में श्री कृष्ण इनका ज्ञान कब होता है तो जब प्रेम प्राप्त होता है तो ये ज्ञानोत्तर काल में ये प्रेम वांछा होने पर ज्ञानी भक्तों को होता है और जो सीधे ही प्रेम मार्ग में जाते हैं उनको हो ही जाता है उनको ज्ञान की अपेक्षा ही होती इस प्रकार से ज्ञान स्वयं आकर उनकी सेवा करता है तो बन तो प्रसन्न आत्मा जब हो गए उसके बाद मद भक्ति भक्ति का मद भक्ति कहा तो मेरी भक्ति मेरा प्रेम तो फिर वही नाम अभिजाना की तत्व का वही चीज मान नाम व्यक्ति तत्व का व्यक्ति अभिजाना तो भगवान कहते हैं कि भक्ता नाम नाम अभिजाना थी यावा निज शास्म तत्वतः तथो नाम तत्व तो ज्ञातवा विषित कदम अंतरम इस प्रकार जो तत्व से मुझको जान लेता है उसका फिर लीला में प्रवेश होता है वो घुल मिल जाता है भगवान अतएव ये सिद्ध है कि इन ब्रजवासियों के समान धर्म कोई नहीं जिनके चरण कमलों का ध्यान नहीं हो सकता जिनके चरण कमलों की भूल नहीं प्राप्त हो सकती वे स्वयं लीलामय बनकर और बालक बनकर ज्ञानी बनकर उपदेश करें सो नहीं अपने ज्ञान को ईश्वरत्व को छिपाकर ईश्वरत्व को भुलाकर स्वयं बालकों की भांति अज्ञता प्रकट करते हुए अज्ञता को अपना स्वरूप देते हुए अज्ञता माने वो अज्ञता उनकी न तो अज्ञान है और नवो ज्ञानाच्छादनी माया है ये अज्ञता ही उनका स्वरूप है ये लक्षण क्या है ये माया नहीं नाट्य नहीं दंड नहीं ये अज्ञता नहीं जानते ये क्या बोल रहा है नहीं जानते ये उनका क्योंकि उनमें कोई बाहर की छाया माया नहीं आती ये स्वयं ही सब कुछ बनते हैं अज्ञता भी ये रस का आचरण करने के लिए स्वयं अज्ञता को स्वीकार कर लेती हैं अपने स्वरूप में तो वो अज्ञता भी बड़ी दक्षण उस अज्ञता को देख करके प्रेमी मुनिगण जो हैं वो प्रसन्न होते हैं शनकादि सुखादि नारदादि ये उस अज्ञता को देख करके नियत हो जाते हैं कि देखो ये अज्ञता कैसी है कैसा ये यज्ञ बना ब्रह्मा जी तो मोहित होते हैं बाकी ये जो प्रेमी लोग हैं मोहित नहीं होते हैं उनका तो प्रेम और भी उछलता है कि किस प्रकार से ये कितने नीचे होकर के और किस प्रकार से नीची चीज को अपना स्वरूप बना लेते स्वीकार नहीं करते स्वरूप बना लेते तो इसलिए कहा कि इनका जो भाग्य है ये बहुत बड़ा भाग्य इस प्रकार ये बन गई इनका खेल चल रहा उधर इनका जो खेल होता है कहीं सबको खबर लगी कंस तो को पता लगा कि राम राम ये तो बकासुर भी मारा गया नहीं अभी यहाँ पे तो ये आनंद का स्रोत बह रहा है और इस आनंद की रस मंदाकिनी में सब के सब मानो डूबे चले जा रहे हैं पर एक वर्ग ऐसा है एक समुदाय ऐसा है बहुमुख समुदाय है आसुई भावापन्न समुदाय वो उसकी आंखें ये शीतल स्पर्श को पाकर भी शीतल नहीं होती बल्कि जलने लगी वहां भगवान का यही लीला स्वरूप है उनको जला करके शुद्ध करना है तुमने इतना स्वर्ण में इतना वो मैल भर गया है कि बिना कटाए वो शुद्ध नहीं हो सकता तो इन लोगों के मन में कभी उदयी नहीं होता ये भाव तो बल्कि वो तो चाहते हैं कि इस प्रवाह को रोक दें न सुरंग का ये भाव होता है कि ये जो रसद प्रवाह बह रहा है उसको खत्म कर दें इसको अवरुद्ध कर दें और इस वर्ग में इस समय नेता हैं सबके सरदार हैं कंसराज असुरों के समय भगवान के इस रसद प्रवाह को रोकने में जो संबद्ध हैं जो वर्ग उस वर्ग के नायक सरदार हैं इस समय कंसराज मथुरा के बादशाह थे उस समय तो उन्होंने उनको उन्होंने जब सुना कि बकासुर मारा गया बड़ा दुख मन में हुआ कि अरे वो बक मारा गया जिसने अपने मुंह में मुझको ले लिया था कंस ने सोचा कि जिसने अपने मुंह में मुझको निगल लिया था तो वो माया गया और उसकी चोच को चीर दिया नन्हे से बच्चे ने हाथ में कैसे उसके चोच वो विशाल चोच अरे एक जिसका हिस्सा पृथ्वी में लगा और एक दूर आकाश में ऊपर जा पहुंचा नक्षत्रों तक तो ऐसे उस चोच को उसने छीन डाला तो बड़ा दुख नहीं हुआ क्या करें कि अगासुर रहा ये भी बक का छोटा भाई था भाई बहनों से पूछना को तो अभासुर को बुलाया अभासुर के मन में प्रतिहिंसा पैदा की बोले देखो ना कितना वो छोकरा दुष्ट हो गया है कि जिसने तुम्हारी बहन को भी मार दिया और भाई को भी मार दिया तो तो तुमको कुछ काम करना चाहिए ये देवता भी इसके मारे सब डर रहे थे अपनी बेवसाय का जाया का मिच्छन लेकर और बजाता था मार के तो देवता सब इससे डरते थे तो ये अगासुर को तैयार किया और तैयार करके भेजा अथागनामादपतन महासुरस्तेषाम सुखप्रीडन वीक्षणाक्षण यम जीवित स्वरूप पीतामतीरप्यमरैतकीक्षते दृष्ट्यार्भकान् कृष्णमुखान् कृष्णमुखानघासुरः कंसान् शिष्टस्वीलकीबकान् यः अयम् ते सोदरनाशुकीर्तैर्गवीनैनम् सबलम् मनुष्ये एतेदामस्वदेश्चिदापः कृता सदा यस्तु समानजैकसः प्राणी गति वश्म सुखा चिंता प्रजा सुर प्राण हीयते ही व्यवस्याजगरम बृहद्वपु सयोजनायाम महाद्रुपी वरम गत्वाद्भुतं व्याप्तविभाननं तदा तत्प्रसिद्यशे तस्विषमाशयाखला अघासुर ये पहुंचा भगवान जहां खेल रहे थे वहां पहुंचाइए और अब ये भगवान जो है ये तो सबका उद्धार करते हैं प्रेमियों का केवल उद्धार नहीं करते क्योंकि प्रेमियों का उद्धार करना तो अपने को उद्धार होना अपना अपना उद्धार करना पड़े पहले प्रेमी न है तो प्रेम में भगवान न रहे तो प्रेमी को कभी ये मुक्ति नहीं देती और दूसरों को अपना प्रेम नहीं देती ये तो भगवान स्वयं प्रेम में बंधते हैं ना सारा जगत बंधा हुआ है माया के बंधन से हम सब बंधे हैं पर भगवान हमसे बंधे नहीं है और प्रेमी स्वयं मुक्त हैं उन्होंने भगवान को बांध रखा वहां भगवान बंधे ये बड़ा अंतर है जिनके द्वारा भगवान बंधे वो प्रेमी और भगवान की माया ने जिनको बांधा वो प्रेमी नहीं जिन बांधे सुरस नादरण प्रबल कर्म की डोरी भगवान ने सुर नादनर देवता मनुष्य प्रिय सभी को भगवान ने बांध रखा परंतु भगवान कहीं बंधे नहीं ये नित्य मुक्त है भगवान का स्वरूप स्वभावतः तो नित्य मुक्त ये नित्य मुक्त जहाँ बन जाए वो है प्रेम का क्षेत्र उस और उनको बांध रखने वाले प्रेमी तो भगवान कदापि इन प्रेमियों को मुक्ति नहीं देते तो स्वभाव है न देते हैं मुक्ति और न वे देते हैं मुक्ति तो जो मुक्ति कहानी है उनके लिए प्रेमी ने कहा तो तुम लोग यहाँ बीच में आ करके और ये दूध में खटाई मत डाला करो